अजाब के फरिश्तों को बुला लेंगे हरगिज नहीं उसकी बात न मानो और सजदा करो और अपने रब का सामीप्य प्राप्त करो